सुप्तः सुप्रसन्नः समित्पाळी पुनरेयाय तम्भ प्रजापतिर्वाच मघुवञ्जसान्तहृदयप्राभ्राजिः किमिच्छन् पुनरागमिति सहोवाच तद्यद्यपि भगवः शरीरम् अन्धं भवति अनन्धः स भवति यदि श्रामम् अश्रामः नैव एषोऽस्य दोषेण दृश्यति न वधे नाचि हन्यते नास्य साम्येण श्रावः त्वे त्वेवैनं विच्छादयन्तीव अप्रियवेत्येव भवति अपि रोदतीव नाहमत्र भोगम पश्याविति न इंद्र हाथ में समिधा लेकर फिर से प्रजापति के पास आया उसको प्रजापति ने पूछा हे इंद्र तुम शांत चित्त होकर गए थे किस इच्छा से पुनः आए हो उसने कहा यह शरीर अंधा हुआ तो भी यह स्वप्नात्मा अंधा नहीं होता शरीर में श्राव हो तो भी यह श्राव श्रवित नहीं होता इनके दोष से यह दूषित नहीं होता इसके वध से यह नष्ट नहीं होता इसके श्राव से श्रवित नहीं होता किंतु इसका कोई मानो मारते हैं कोई भगाते हैं मानो यह अप्रिय देखने वाला होता है और मानो रोता भी है मुझे इसमें कोई भला सार नहीं दिखता एवमेव समघुवन्यति होवाच एतम तेव ते भूयो नो व्याख्यास्यामी वसापराणि द्वात्रिंशतं दर्शाणिति सहापराणि द्वांशतम वर्षाणि वासा प्रजापति ने कहा इंद्र हाँ यह ऐसा ही है मैं तुम्हें पुनः यह विवरण करके बताऊंगा और बत्तीस साल तुम यहाँ रहो यह इंद्र और बत्तीस साल और वह इंद्र और बत्तीस साल रहा तस्मै होवाच तदत्र सुप्त समस्त संपन्न स्वप्न न विजानाति एस आपने आत्मेति होवाच अमृतम अभयम एक एतद्ब्रह्मेति उसको प्रजापति ने कहा जब गाढ़ निद्रा में वह वृत्ति रहित प्रसन्न होता है स्वप्न नहीं देखता वह आत्मा है ऐसा भी बोले यह अमृत है अभय है यह ब्रह्म है सह शांत हृदय प्रव्राज सह अप्राप्रेय देवान एतद्भयम ददर्श नाह खलु अयमेव संप्रति आत्मा जानाति अहम अयम अस्मीति नो एव इमानि भूतानि निनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोगम पश्यामिति वह इंद्र शांत चित्त से वहाँ से गया लेकिन देवों के पास पहुँचने के पहले ही उसे यह भय दिखाई दिया सचमुच यह तो खुद को सम्यक रूप से जानता नहीं कि वह मैं हूँ न यहाँ के भूतों को ही जानता है इस समय उस अवस्था में मानव वह विनाश को प्राप्त होता है इसमें मुझे भला सार नहीं दिखाई देता तुरीय उत्तम पुरुष स पाड़ी पुनरेजाज तंभ प्रजापतिर्वाच मघवन यशांत हृदय प्रावराजि किमिच्छन पुनरागमति स होवाच नाह खलु अयम भगव एवं संप्रति आत्मा जाने जानाति अयहमीति नो इह इमानि भूतानि दिनाशमेवापी तो भवती नाहमत्र भोग्यम पश्यामिति वह इंद्र हाथ में समिधा लेकर फिर से आया उसको प्रजापति ने कहा इंद्र तुम शांत चित्त होकर गए थे किस इच्छा से पुनः आए हो वह बोला हे भगवान सचमुच यह खुद को सम्यक रूप से जानता नहीं कि यह मैं हूँ न यहाँ वे भूतों को ही जानता है उस समय उस अवस्था में मानव वह विनाश को प्राप्त होता है इसमें मुझे भला सार नहीं दिखाई देता एवमेव स भगवन्यति होवाच एतम तम तेवते भूयो नो व्याख्या सो एवान्यत्र एतस्मान् वशापराणि पञ्चवर्षाणिति पंचवर्षाण्युवास पञ्चवर्षाण्युवास तानि एकशतं सम्पदे सम्पेदुः ते एकशतं भवै वर्षाणि नघवान् प्रजापतो ब्रह्मचर्यम् उवास हे इंद्र हाँ वह ऐसा ही है प्रजापति ने कहा मैं तुम्हें फिर से यह विवरण करके कहूँगा आत्मा इससे भिन्न नहीं रहो और पाँच साल वह इंद्र और पाँच साल रहा वे सब मिलकर 101 वर्ष हुए इसी से यह कहते हैं कि इंद्र प्रजापति के पास 101 साल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा तस्मय होवाच भगवन् मरत्यं वा इदं शरीरम् आत्यं मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनोऽधिष्ठानम् आत्तो शरीरप्रिया प्रियाभ्यां न स शरीरस्य सत प्रियाप्रियोर् रतिरस्ति अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशत उसको प्रजापति ने कहा इंद्र यह मर्त शरीर मृत्यु से ग्रस्त है परंतु वह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है देह प्रिय अप्रिय से ग्रस्त रहता है देह रहने तक यानी देहाभिमान रहने तक प्रिया प्रिय से छुटकारा नहीं देह मुक्त को प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत स्तनयत्युनर अशरीराण्येतानि तद्यथा एतानि अमुष्मान् आकाशासमुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्यत स्वेन रूपेण अभि निष्पद्यन्ते एवमेवैष सम्प्रसादो अस्मात् शरीरा समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण त तत्र पर्येति यक्षन् क्रीडन् रमणमाणः त यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तः देवमेव अयम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः वायु अशरीर है अभ्र विद्युत मेघ ये सब अशरीर है जिस प्रकार ये सब इस आकाश से ऊपर जाकर श्रेष्ठ ज्योति को यानी सूर्य को प्राप्त होकर स्वरूप से प्रकट होते हैं इसी प्रकार यह प्रसन्न मूर्ति इस शरीर से बाहर निकलकर श्रेष्ठ ज्योति को प्राप्त होकर स्वरूप से प्रकट होता है यह उत्तम पुरुष है वह वहाँ ज्ञानावस्था में हंसता बोलता ब्रह्मांड होता फिरता है जिस प्रकार कार्य विशेष के लिए अधिकारी नियुक्त रहता है उसी प्रकार इस शरीर में प्राण नियुक्त रहता है अथ यत्रैतद् आकाशम् अनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषः वर्ष्णा वर्ष्णाय चक्षुः अथ यो वेद इदं जिघ्राणिति स आत्मा गन्धायघ्राणम् यो वेद इदम् अभिव्याहराणीति स आत्मा अभिव्याहाराय वा अथ यो वेद इदम शृण्वादिति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम जब इस आकाश को चिपका हुआ जो चक्षु है वह चाक्षुष पुरुष आत्मा है उसके देखने के लिए चक्षु है जैसे ही जो मैं यह सूंघूंगा ऐसा जानता है वह आत्मा है उसके सूंघने के लिए यह घ्राणेन्द्रीय है जैसे ही जो मैं यह बोलूँगा ऐसा जानता है वह आत्मा है उसके बोलने के लिए वाक है वैसे ही जो मैं यह सुनूंगा ऐसा जानता है वह आत्मा है उसके श्रवण के लिए श्रोत्र है अथयो वेद इदम ते स आत्मा मनोष दैव चक्षु सवा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान् कामान पश्यन् रमते या एते ब्रह्मलोके मैं यह मनन करता हूँ ऐसा जो जानता है वह आत्मा है मन इसका दिव्य चक्षु है वह यह इस दिव्य चक्षु से अर्थात मन से इन भोगों का अनुभव कर रमण करता है जो ये भोग ब्रह्मलोक में है तम वा एतम देवा आत्मान उपासते तस्मात्षा सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च काम स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य इति प्रजापतिर्वाच प्रजापतिर्वाच देव उस आत्मा की उपासना करते हैं इसलिए उनको सब लोक और सब काम प्राप्त है जो खोज करके इसको आत्मा को जानता है वह सब लोक और सब कामनाओं को प्राप्त करता है ऐसा प्रजापति ने कहा रे प्रजापति ने कहा अर्व अश्व इवरो माड़ी श्यामा सबलं प्रपद्ये सबला श्यामं प्रपद्ये अश्वयोरोबाणे विधूय पापं चन्द्रम् इव रारोः राहोर्मुखात् प्रमुच्य धृत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसम्भवामीति अभिसम्भवामीति अश्व ऐसे रोए झाड़ता है शाम से मैं सबल मैं पहुँचता हूँ सबल से मैं श्याम में पहुँचता हूँ जिस तरह अश्व रोए झाड़ता है जिस तरह पाप झाड़कर चंद्र राहु के मुख से मुक्त होता है इसी तरह शरीर झाड़कर कृतकृत्य होकर मैं स्वयं सिद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त होऊंगा प्राप्त होऊंगा यशोहम भवामी ब्राह्मणा आकाशो वही नाम आकाशो वै नाम नामरूपो योर निर्वहिता ये यदन्तरायन्तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा प्रजापते सभां स्म प्रपद्ये यशोहम भवामी ब्राह्मणा यशो राज्ञां यशो विषा यशोहम अनुप्रापस्सि सह अहम यशसां यश मैं ब्राह्मणों का यश हूँ आकाश यानी नाम नाम और रूप का आधार है ये दोनों जिसमें है वह आकाश ही ब्रह्म है वह अमृत है वह आत्मा है प्रजापति के सभागृह में मैं पहुँचूँगा मैं ब्राह्मणों का यश हूँ क्षत्रियों का यश हूँ वैश्यों का यश हूँ इच्छा मात्र से मुझे यश प्राप्त हुआ है वह मैं यशों का यश हूँ तद्धि तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापते उवाच प्रजापतिर्मनवे मनो प्रजाभ्य आचार्यकुला वेदमधीत्य यथाभिसानं गुरो कुर्मारिति शेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बेषु चौदेशे स्वाध्यायम् अधीयानः धार्मिकान् आत्मा सर्वेन्द्रिया संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र स खलु एवं वर्तयन यावदायुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते गृहस्थ धर्म में चारों आश्रमों का समावेश वही यह आत्मज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा प्रजापति ने मनु को मनु ने प्रजा को कहा आचार्य गृह में गुरु की सेवा करके बचे हुए समय में विधि पूर्वक वेदाभ्यास करके घर वापस आकर कुटुंब में स्थित होकर शुचि प्रवेश में स्वाध्याय करते हुए अन्यों को धार्मिक बनाते हुए आत्मा में सब इंद्रियों को संप्रतिष्ठा करके यावश्यकता किसी भी प्राणी की हिंसा न करने वाला जब तक आयुष्य है तब तक इस प्रकार वर्तन करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है वह फिर वापस नहीं आता फिर वापस नहीं आता